ऋग्वेदीय ऐत्र उपनिषद प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड तक कुछ विचार हो गया जिसमें लोकों की सृष्टि लोकपालों की सृष्टि की चर्चा हो गई आगे भोक्ता वर्ग की सृष्टि पूरे होने के बाद अब भोग्य वर्ग की सृष्टि बताना चाहते हैं अन्नादि की सृष्टि सारा संसार दो भाग में विभक्त है अन्न और अन्नाद खाने वाला खाए जाने वाला दो विभाग है संसार का स्वरूप दो विभाग में दिखाई पड़ता है भोक्ता और भोग्य दो रूप में है किसी के द्वारा वो भोग्य होता है तो किसी के लिए भोक्ता भी होता है कुछ खाता है किसी से वो भी खाया जाता है सारा संसार में भोक्तृत्व भोग्यत्व धर्म दिखाई पड़ता है केवल भोक्ता होता ही नहीं कोई भी अन्य के द्वारा भोग्य भी बनेगा वो भोक्ता और भोग्य रूप में संसार है तो भोग जो तो भोक्ता है उनकी सृष्टि बता दी और भोग्य वस्तु की सृष्टि बताना है इसके लिए कहना चाहते हैं आगे तृतीय खंड आरंभ होता है प्रथम अध्याय का भोग्य सृष्टि बताने के लिए अन्न की सृष्टि साईक्षत लोकपालाश्च अन्नम इमेन लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नम ये सृजा स परमात्मा जो माया विशिष्ट परमात्मा है एक ईक्षत मान क्षत या आठ का अभाव है आठ का आगम का अभाव छांद में है क्षत दर्शन धातु लंग लकार का रूप है अक्षत उसने विचार किया फिर तब किया विचार किया इमेनु लोका से ये लोग तैयार हो गए चौदह भुवन तैयार हो गया लोकपाल ये देवता भी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी तैयार हो गए भोक्ता देवता भी तैयार हो गए लोक हो गए रहने का स्थान आदि गोलक आदि तैयार हो गए और इंद्रिया हो गई इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता वो लोकपाल हैं ये भी हो गए अग्नि देवता अन्नम यद्य सृजई अब इनके लिए अन्न की सृष्टि करूं ऐसा विचार किया भोक्ता तो तैयार हो गए अभी भोग्य पदार्थ की आवश्यकता है अन्नम यज्ञ आवश्यकता है ठीक है मैं कहते हैं एवं भोग साधन सृष्टि मुक्त भोग के साधन बता दिया अब तक भोग भोगने का साधन बता दिया माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हम शब्द ग्रहण करते हैं उसका अंतिम परिणाम सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार होगा कोई भी विषय हम आर्जन करते हैं उसका अंतिम परिणाम या सुख रूप में हमको मिलेगा या दुख रूप में मिलेगा दो में से एक होगा इसी का नाम भोग होता है सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार होगा कोई भी वस्तु अंतिम परिणाम उसका सुख या दुख एक होता है जो वस्तु हमारे पास आए चाहे शब्द हो चाहे स्पर्श हो गंध हो रूप हो रस हो कोई भी होगा या उसके साधन हम आर्जन करेंगे शब्द आदि का साधन आर्जन करेंगे किसके लिए करते हैं सुख के लिए अंतिम परिणाम सुख होता है अथवा दुख दुख भी हो सकता है इसी का नाम भोग होता है भोग का अर्थ सुख सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार भोग दो में से किसी का साक्षात्कार कोई भी वस्तु हमारे सामने आएगा या तो सुख रूप में आएगा या दुख रूप में आएगा अंतिम परिणाम सुख या दुख होगा हाथ में यही लगेगा उसी का नाम भोग होता है ठीक कहा कि एवं भोग साधन सृष्टि भोग के साधन भोग भोगने के साधन इंद्रियां हैं देवता हैं ये सब तैयार हो गए इन्हीं के माध्यम से हमें शब्द आदि का भोग भोगना है कोई भी करना हो माने साधन हो गया अब तो तक अब भोग का बतलाना है भोग्य वस्तु बतलाना है एवं भोग साधन सृष्टि मूलता भोग के साधन की सृष्टि कह दिया अब तक हाँ, लोक सृष्टि हो गई किसी लोक में बैठ करके हम भोग करेंगे और लोकपाल किसी इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के माध्यम से हम भोग करेंगे तो भोग साधन की सृष्टि बताए भोग के जो साधन थे उनकी सृष्टि करें भोग के सृष्टि में भक्त महाराज और भोग के सृष्टि भोग्य वस्तु की सृष्टि कहने के लिए आरंभ करते हैं ये कहा भाष्य में कहते हैं स एवं ईश्वर ईक्षत स ईश्वर वो परमात्मा ने फिर शिक्षण किया विचार किया प्रथम कैसे विचार किया प्रश्न हुआ तो कहा इमेन लोक लोकपाल ये लोग तैयार हो गए ये भोग के साधन है कहीं बैठ कर प्राणी भोग करेंगे भोग के साधन है और लोकपाल ये भी भोग के साधन है इंद्रिय इंद्रिय मानी अग्नि आदि देवता के माध्यम से भोग करेंगे भोग होगा इमेन लोकाश्च लोकपालास्त मया सृष्टा ये जो मेरे द्वारा सृष्ट हुए सृष्टि हो गई इनके लोक के भी लोकपालों की सृष्टि हो गई असमाया पिपाशाभ्याम संयोजिता ये देवता को मैंने भूख प्यास से युक्त भी कर दिया है किंतु अब भूख प्यास लगे तो उसके लिए अन्न की आवश्यकता होगी भोग्य वस्तु की आवश्यकता होगी लोकपाल बन गए लोक हो गए लोकपाल भी हो गए और उनको मैंने अन्न और पिपाशा भूख प्यास से युक्त भी कर दिया है सुविधा पिपाशा लगा दिया है तम असनाया पिपाशात्म अन्नवार्जत ऐसा था उस विराट पुरुष को भूख प्यास से युक्त कर दिया अन्न नहीं दिया भूख लगा दिया प्यास लगा दिया अतो नैसाम स्थिति अन्न मंत्रेगा अब ऐसा देवान स्थिति इन देवताओं की स्थिति अन्न के बिना संभव नहीं है भूख भी लगा दिया है देवताओं की सृष्टि हो गई भूख के साधन वस्तु सृष्टि हो गए भूख भी लगा दिया अब अतो ऐसा स्थिति अन्नम अंतरेण न इन देवताओं की स्थिति अब अन्न के बिना संभव नहीं है ये परमात्मा ने सोचा इसलिए तस्मात इसी कारण से अन्नम एभ्यो लोकपाल सृजयी मन सृजयी इन लोकपालों के लिए जो अग्नि आदि देवता है इंद्रिया के अधिष्ठादि देवता है इन्हीं की संतुष्टि के लिए क्या करूं एभ्य अन्नम सृजयी कहा इनके लिए अन्न की सृष्टि करूं सृजयी लोट लगा रहे पहले इसका अर्थ कर दिया था अपने लिए आदेश आदि होता नहीं है लोट का अर्थ होता है आदेश आदि में विधि आदि में अपने लिए विधि नहीं होता आदेश दूसरे को दिया जाता है प्रार्थना दूसरे से की जाती है तो लोट का अर्थ नहीं घट रहा इसलिए लट लेना चाहिए मैं सृष्टि करता हूं ऐसा रहता सृजय का अर्थ सृजय लट लगा से अर्थ करना बताया सृष्टि करो करता हूं ये बताया ऐसा ईक्षण किया एवं ही लोके ईश्वरमाम अनुग्रह निग्रह का स्वातंत्र दृष्टम लोक में ऐसा देखा है जो बड़े लोग होते हैं ईश्वर माने बड़े राजा आदि जो बड़े लोग होते हैं अपने अनुयायियों का अनुग्रह या निग्रह करने के सामर्थ्य होता है तो परमात्मा भी सबसे बड़े हैं तो उनके जो अनुयायी हैं लोकपाल आदि उनको निग्रह करना अनुग्रह करना उनका कर्तव्य है एक दृष्टांत देते हैं एवं इस प्रकार ही यस्मात एवं लोके लोक में ईश्वर आराम जो बड़े बड़े स्थान पर बैठे हुए लोग हैं पदाधिकारी जो बड़े स्थान में होते हैं राजा लोग होते हैं ईश्वर यहां हुआ है अनुग्रह में अनुग्रह में और निग्रह में किसी को दंड देना किसी को पुरस्कार देना पुरस्कृत करना या दंड देना स्वतंत्र होता है जैसा चाहे वैसा कर सकते हो लोक में जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपने अनुयायी को कुछ भी कर सकते हैं दृष्टम स्वेशु शेषु स्वेशु अपने लोग अपने लोगों को अनुग्रह करना दूसरे को नहीं अपने लोगों को अनुग्रह या निग्रह करने की सामर्थ्य उनमें होता है स्वतंत्र होते हैं उसके लिए ठीक इसी प्रकार तद्वत परमात्मा भी स्वतंत्र है उन्हीं के लोग हैं उन्हीं से श्रेष्ठ हैं सारे ये परमात्मा के लोग हैं जैसे लोग में देखा है अपने लोगों के नियंत्रण जैसे घर का मालिक होगा वो मालिक अपने जैसे परिवार को नियंत्रण करता है अनुग्रह भी कर सकता है निग्रह भी कर सकता है कुछ गलत करे तो दंड भी देता है स्वतंत्र होता है उसके लिए वो इसी प्रकार परमात्मा जगत में स्वतंत्र है तद्वत महेश्वर से सर्वेश्वर बात वो सबका ईश्वर है इसलिए सर्वान प्रति निग्रह अनुग्रह स्वतंत्र सबके लिए निग्रह करना अनुग्रह करना स्वतंत्र है वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है ये उसका अनुयायी है सब ऐसा ठीक है मैं कहते हैं नू शब्दोक्तम वितर्कम स्पष्टी करोगी नू शब्द के द्वारा कहा गया जो वितर्क नु अव्यय है वितर्क अर्थन होता है उसके स्पष्टीकरण करते हैं क्या करते हैं लोकाश्च लोकपालाश्च मया सृष्टा और असमाज पिपाशाभ्याम तो संयोजित ये यही था लोक भी श्रेष्ठ हो गए लोकपाल भी श्रेष्ठ हो गए अग्नि देवता बन गए तैयार हो गए और भूख प्यास से भी युक्त हो गए तो उनके लिए अब अन्न की आवश्यकता है अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं होगी अब अन्न की तैयार करके ये सोचा ये कहा टीका में कहते हैं पूर्वोत्त लोक लोकपाल प्रार्थना बिना स्वयं अन्नम श्रत्व वितरितवान लोक लोकपालों ने प्रार्थना नहीं की हमारे लिए अन्न लाओ नहीं कहा आयतम नो अस्मन प्रजानी ही ऐसा कहा था आयतम नो नो प्रजानी ही हाँ, यशमिन अन्नम अदाम ऐसा कहा यशमिन आयतन अन्नम अदाम ये तो देवताओं ने कहा था जिसके लिए हमें आयतन मान शरीर जो जिसमें बैठ करके अन्न भक्षण करेगा किंतु अन्न दे तो नहीं कहा देवताओं ने प्रार्थना नहीं उनकी स्वतंत्र है इसलिए अन्न की सृष्टि कर उन्होंने मांगा नहीं अभी अन्न को देवताओं ये कहते हैं पूर्ववत लोकपाल लोकपाल प्रार्थना बिना लोकपालों की प्रार्थना नहीं अन्न के विषय में शरीर की यात्रा तो की थी उन्होंने आयतन मनोप्रधान ही हमारे लिए शरीर दे दो यशमिन प्रतिष्ठिता अन्न मदाम कहा था जिसमें बैठ करके हम अपना अपना विषयों का भोग करें ये कहा था किंतु तो विषय की प्रार्थना नहीं की है देवताओं ने इसलिए कहा पूर्ववत लोकपाल प्रार्थना बिना लोकपालों की प्रार्थना के बिना ही स्वयं एवं अन्नम सृष्टुम अपने अभी विचार किया क्योंकि अब इनको मैंने बना दिया है और भूख प्यास भी लगा दिया है तो अन्न के बिना अब इनकी स्थिति नहीं रहेगी इसलिए अन्न की सृष्टि करो उनके प्रार्थना के बिना ही पितर के दौरान विचार किया यही है कि उगते प्रयोजन ईश्वरत्व ज्ञापन तो ईश्वर है जैसा चाहे वैसे उसके मागे बिना भी दे सकता है अन्न मागा नहीं तैयारी कर दी ईश्वरत्व ज्ञापन यही है क्यों जो घर के बड़े मालिक होते हैं वो अपने परिवार के लिए स्वतंत्र होते हैं जैसे चाहे वैसा करें तो इनके प्रार्थना के बिना भी अन्न तैयार करने जा रहे हैं परमात्मा एक अनाथ एक कहा ठीक है आगे मंत्र है सो अपो अभ्यतपत ताभ्यो अभितप्ताभ्यो रजायता यदा वै सा मूर्तिरजात अन्नम वै तत् सो अपो अभ्यतपत् ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजात या वै सा अन्नम वै तत् स माने परमात्मा वो ईश्वर में क्या किया अपो तप्त अव्यतपत कहा या जल को कहा जल को तपाया मैंने विचार किया क्या किया अव्यतप जल माने जल प्रधान जो पंचभूत है उसी में से बनाना है उसी से लोक बनाया था उसी से लोकपाल आदि बनाया था गुरु विराट पुरुष उसी से बनाया था और साधन नहीं पंचभूत से अतिरिक्त साधन है उस काल में पंचीकृत पंचभूत है वही साधन है तो जल प्रधान जो पंचभूत है अब शब्द करते जल प्रधान पंचभूत किनसे तपत माने विचार किया अभी इसी में से अन्न बनाओ ऐसा विचार किया वही साधन है उसी से मान शरीर बनाया है उसी से देवता आदि बनाया है वही साधन है सृष्टि के पूर्व में पंचभूत है वही साधन है तो उसी में विचार किया इस प्रकार के दाने निकालो अन्न बनाओ के लिए अन्न बनाने के विचार किया सो अपो तपत का वो जल जल करते हुए विचार किया ताभ्य अभितप्ताभ्य जब विचार किया परमात्मा ने मंथन किया जल माने वो पंचभूतों को उनसे क्या मूर्ति आ जाएगा एक आकार आ गया साकार वस्तु पैदा हो गया आकृति बन गई या वही सा मूर्ति अजायता अन्नम बैठा जो मूर्ति वो पैदा हुई थी मूर्ति माने घनी घनीभूत हो गया तरल था पंचभूत उस काल में ठोस हो गया अन्न रूप में हो गया जो तो मूर्ति बन गई आकार वाली हो गई हो गया है वही अन्न है जो आकृति आ गई वही अन्न है ऐसा भाष्य में कहते हैं स ईश्वर अन्नम सृष्टि वो ईश्वर अन्न की सृष्टि करने की इच्छुक है भोक्ता वर्ग तैयार हो गया है भोग्य वस्तु नहीं है इसलिए अन्न सृष्टि करने की इच्छुक ईश्वर ता एव पूर्वोक्ता आप ये पंचभूत है और तो कुछ है वहां सृष्टि के पूर्व काल में पंचभूति है उसके पास पंचकृत पंचभूत है ताएव पूर्वोक्ता अपमान उद्देश्य अव्यतपद का उसी पंचभूतों को उद्देश्य करके इसमें अन्न बन जाए ऐसा विचार किया अव्यतपद ताभ्य अभितपताभ्य उपादान भूतेभ्यो वही अन्न के उपादान कारण पंचभूति है उसी से बना है वही पंचभूति साधन था उस काल में ताभ्य अभितप्ताभ्य वो जो जल प्रधान पंचभूत है उनको जो परमात्मा ने सोचा ये कठिन हो जाए अन्न बन जाए कहा सोचा सोचते हैं उपादान भूते तो अन्न का उपादान कारण वही पंचभूत है मूर्ति मूर्ति पैदा हो गया मूर्ति माने घन रूप में ठोस हो गया तरल रूप में था और ठोस बन गया परमात्मा की इच्छा से मूर्ति माने घन रूपम धारण समर्थम कहा जीवन धारण के समर्थ वस्तु बन गया जिसकी खा करके जीवन रक्षा हो सकती ऐसा वस्तु बन गया वो जीवन धारण सामर्थ्य शरीर धारण के समर्थन वस्तु बन गया वो पंचभूत धारण समर्थन शरीर धारण के समर्थन होगा चराचर लक्षण आ जाएगा तो दो प्रकार के अन्न है चर अन्न और अचर अन्न दो प्रकार के अन्न है चर अन्न होगा चूहा आदि बिल्ली का अन्न है अद्यत अन्न जिसके द्वारा जो खाया जाए अन्न है मूषक होता है चूहा बिल्ली का अन्न है शेर का अन्न है बकरी आदि कुत्ता आदि और मनुष्य का अन्न होता है जौ चावल आदि अद्यत भी अन्न जिससे जिस प्राणी से जो खाया जाए उसके लिए वो अन्न है अन्न शब्द का अर्थ ऐसा है सबको अन्न देना है जल जंगल के जो शेर है उसको भी देना है हरिण आदि के रूप में देना है क्यों वो जौ चावल नहीं खाएगा बिल्ली को भी देना है मांसाहारी जीव है वही अन्न उनका जिसके द्वारा जो खाया जाए चौरासी लाख योनियों में चौरासी लाख तो योनि है जीवों की संख्या तो अनंत है एक ही योनि कितने जीव है पता नहीं लगता कितने प्राणी है पता नहीं तो सबके लिए अन्न तैयार कर दिया ये कहा परमात्मा ने सोचा ये विचार किया था तब आया था कितने प्राणी हैं किस प्रकार के अन्न चाहिए ये विचार किया विचार करने के पश्चात ताभ्यो अभितप्ताभ्य उपादान भूताभ्य एक उपादान कारण भी पंचभूत है उसी से ही परमात्मा के जो विचार से मूर्ति पैदा हो गया मूर्ति माने घन रूपम ठोस हो गया ठोस वस्तु निकला धारण समर्थम शरीर धारण के समर्थ हो गया अन्न खाने पर मतलब शरीर की रक्षा होती है किंतु अन्न शब्द का अर्थ है चराचर लक्षण बोल दिया है चलने वाला अन्न और न चलने वाला अन्न दो प्रकार का अन्न बन गया चूहा आदि जो अन्न होते हैं चलने वाले होते हैं और गेहूं चावल आदि अन्न न चलने वाले होते हैं अचर है वो दो प्रकार का अन्न है एक चराचर लक्षण अजायता ऐसा अन्न पैदा हो गया उत्पन्नम अजायत मैंने उत्पन्नम उत्पन्न हो गया अन्नम वही तत्मूर्ति अन्नम वही तत्मूर्ति रूपम अन्न वो है वो मूर्ति रूप जो ठोस बन गया वही अन्न है या वही सा मूर्ति अजायता अन्नम वही तत्मूर्ति ऐसा लगा जो वो जो मूर्ति पैदा होकर घन ठोस बन गया था वही अन्न है पंचभूतों से ठोस वस्तु पैदा हुआ चराचर दो रूप में पैदा हुआ वो अन्न है माने अन्न शब्द का अर्थ अद्यते इति अन्नम ऐसा विग्रह है जो खाया जाए जिससे जो खाया जाए वो अन्न उसके लिए वो अन्न है अन्न का अर्थ नहीं होता है टीका में कहते हैं अप इति अप माने पंचभूतानी इत्यर्थ अप शब्द का अर्थ है अपो अव्यतपद मैंने पंचभूतों को तपाया यह है पंचभूतों में विचार किया ठोस बन जाए प्राणियों के योग्य शरीर जो योग्य हो जाए ऐसा परमात्मा ने विचार किया आगे एतेभ्यो भूतेभ्यो मनुष्यादि नाम अन्न भूता जाए नाम ऐसा कहा इन भूतों से परमात्मा ने जो विचार किया वहां इन भूतों से ये जो पांच पंचभूत हमारे पास है और साधन है हमारे पास है सृष्टि के पूर्वकाल की बात है एतेभ्य भूतेभ्य जो तो पांच भूत है मनुष्यादि नाम अन्न भूता अपरिहार जाए नाम ऐसे विचार किया मनुष्य आदि के लिए अन्न क्या चाहिए जव आदि धान आदि चाहिए ऐसा अन्न बन जाए ऐसा सोचा कोई अन्न बन गया मनुष्य आदि के लिए और मार्जारादि नाम अन्नभूतानी मूषक आदि नहीं बिल्ली आदि के अन्न जऊ आदि जऊ आदि नहीं खाएंगे वो मूषक आदि चूहा आदि चाहिए उनको वही अन्न है उसके लिए ये चर अन्न है मार्जारादि नाम मार्जारादि मार्जार माने बिला बिल्ली होता है इनके लिए आदि मूषक आदि नहीं चूहा आदि इनके अन्न होते हैं जायंदा ऐसे ऐसा विचार किया यदि पर्यालोचन संकल्पम कृतवान ऐसा विचार किया अभी तो अपो अव्यतपद का आता ऐसा है ऐसा विचार किया परमात्मा ने दो प्रकार के अन्न है एक तो मांस आदि जो मैंने गाय के लिए घास आना है जिससे जो खाया जाए उसका वो अन्न ऐसी तरह से बनाया चर और अचर दो प्रकार का अन्न है कोई चलने वाले हैं कोई न चलने वाले हैं ऐसा अन्न है यही होगा अच्छा। टिप्पणी है गोषकादि यद्यपि सर्व प्रत्याख्यान इतिहान कथार्थम यथ तथा तेसु अन्नत्व मात्र अत्र थे इति अवधेयम कहते हैं ये चूहा आदि की सृष्टि तो पहले हो चुकी है क्यों ताभ्यो काम आनय ताभ्यो अश्वम आनय इत्यादि कहा था भाष्य में लिख दिया था सबका प्रत्याख्यान कर दिया इन्होंने नहीं ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है उनको जब मनुष्य शरीर बना दिया तब उसको अच्छा लगा क्यों ये मनुष्य शरीर में श्लोक परलोक दोनों सिद्ध करने के साधन ये है कर सकता है चाहे तो माने प्रारब्ध भोग भोग कर भोगता हुआ आगे के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकता है इस शरीर में आगे के लिए कुछ पुरुषार्थ करने के मौका है यहाँ बाकी शरीरों में आगे के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता केवल प्रारब्ध भोग ही भोगना होता है इसलिए मनुष्य शरीर को पसंद किया ये कहा था उसी से चुहा आदि भी तो हो गया ये कहा यद्यपि सर्व प्रत्याख्यान है देवताओं ने सबका प्रत्याख्यान कर दिया था सारी सृष्टि में भाष्य में लिख दिया था त्रिचालीस पुरुष में भाष्य में था सर्व प्रत्याख्यान है ताव्य पुरुषम आनयत ऐसा लिखा था यद्यपि सर्व प्रत्याख्यान गतार्थ में थी पोषकादि भी सृष्टि हो चुकी है गतार्थ है तथा इतेशु अन्नत्व मात्र अत्र संकल्प है यहां पर मूषक आदि की सृष्टि के बारे में चर्चा नहीं है वो आदि में सृष्टि तो हो चुकी है किंतु तो उनको अन्नत्व का विधान करना वो भी अन्न है यहां बतलाना यह तात्पर्य है दिल्ली का अन्न है ये इसमें अन्न रूप से विधान करना तात्पर्य था इस मंत्र में ये बताया टिप्पणी का आगे टीका में कहते मूर्ति शब्द है ना मूर्ति माने क्या हो गया होगा वो माने मूर्ति तक आओ वो जो पंचभूत से मूर्ति पैदा हो गई क्या मूर्ति क्या है मूर्ति माने परचरणादि अभिधान है प्रियादे रघुचा तो मूर्ति का अर्थ है यदि हाथ पैर वाला लेंगे जैसे लोग में प्रसिद्ध है तो फिर धान जो आदि नहीं आएंगे मूर्ति में मूर्ति शब्द का अर्थ हाथ पैर वाला यदि लेंगे तो धान जो आदि नहीं आएंगे फिर क्या करना है इसलिए कहा घन रूपम मूर्ति का अर्थ ठोस हो गया वो पंचभूत तरल अवस्था में था और परमात्मा की जो अन्न बन जाए कहा तो ठोस हो गया घनीभूत हो गया यह मूर्ति शब्द का ठोस घनीभूत या हाथ पैर आदि नहीं ऐसे आकृति नहीं ठोस हुआ यह अर्थ लेना घन रूपा ने कठिनम तरल था वो पहले अब कठिन हो गया माने दूसरे के द्वारा खाने योग्य हो गया शरीर धारण में समर्थ हो गया जिसका जो अन्न होता है उसको खाने से उसका शरीर की रक्षा होती है जिसका जो अन्न है चौरासी लाख योनि में जिसका जो अन्न होगा गाय के लिए घास अन्न है घास खाने से उनकी पुष्टि होती है शरीर रक्षा है मनुष्य को दाल रोटी आदि से रक्षा है हाँ, जंगल के शेर को मांस से रक्षा है अपने अपने ढंग की रक्षा है कोई हवा पी करके रहने वाले प्राणी है कोई चंद्र के किरण चुन करके रहने वाले प्राणी है ऐसे ऐसे प्राणी है जिसके लिए जो खाया जाए वो अन्न है जैसे सर्पादि हवा पीने वाले हैं उनको कोई मेढक आदि की आवश्यकता नहीं मिले तो ले लेंगे अलग बात है नहीं तो हवा से जीते हैं वो उनको आवश्यकता नहीं है अन्य वस्तु और एक चकोर पक्षी होता है चंद्र के किरण चुन के खाएगा बाकी दूसरे वस्तु नहीं खाता चंद्रमा का किरण आता है उसी को चुनता है वही आहार है उसका उसके लिए अन्न वही है ऐसा होता है अगर ननु अमूर्त आराम अभी वायु चंद्र किरणादि नाम सर्पादि प्रति अन्नत्म अस्थित तत्संग्रहार्थम आहार धारण समर्थक यह शंका होती है कि महाराज जो अमूर्त पदार्थ है चंद्रमा के किरण कोई ठोस नहीं होता जैसे यहां मूर्ति का अर्थ घनीभूत बोल दिया है ठोस बन गया कहा तो अब कुछ ठोस नहीं होते अमूर्त पदार्थ भी तो है ना वो भी अन्न है नानो अमूर्त आराम भी जो अमूर्त वस्तु है ठोस नहीं होते हैं कैसा चंद्र वायु चंद्र किरणादिना वायु का अन्न वायु है अन्न किसका सर्पादि का कहते हैं यदि सर्प न हो बिच्छू न हो इतने दूषित वायु फैल जाएगी सब प्राणी मर जाएंगे तो दूषित वायु को पीने वाले हैं भगवान ने जो भी बनाया इस सृष्टि में कोई भी गलत नहीं है हमारा उपयोग गलत है उपयोग गलत करते हैं अगर सर्प न हो बिच्छू आदि न हो एक विषैले जानवर न हो यदि तो विषैला हवा कोई लेगा नहीं जहर फैल जाएगा सर्प मर जाएगा जहरीला हवा पीते हैं इसको आपका उपकार कर रहे हैं और आपको शत्रु मार समझ के मार देते हैं नो अमृत भी वायु चंद्र नाम वायु आहार है सर्पादि का सर्प पिबंति पवनम न ने ऐसा कहा है संतोष में वो पुरुष से पुरम निधान ऐसा ऐसा लिखा है कवि ने लिखा सर्पा पिबंति पवनम न ने सर्प जितने भी होते हैं हवा पीते हैं कि तो दुर्बल नहीं देखा है बलशाली रहते हैं चलते फिरते हैं हवा पीते रहते हैं सर्पा पिबंती पवनम न तो दुर्वास्ते शुष्क तृणई बन रजा बलिनो भवंती जंगली जो हाथी है सूखे हुए तिन के जो घास फूस जो मिलेगा वो खाते हैं उसी से बड़े बलवान होते हैं पालतू हाथी की अपेक्षा वो ज्यादा बलवान है क्यों संतोष है उनको जो मिले उसमें संतोष है सर्प को जो मिला उसमें संतोष है बलवान है सर्पा पिबंती पवनम न चतुर्बलास्ते शुष्क स्त्रीर वन रजा बलिरो भवंती कंदई फलई मुनि कंदई फलईर मुनिवरा क्षपयंती कालम जंगल में तपस्वी लोग बैठे हुए हैं मुनि लोग बैठे हैं उनके लिए कोई विशेष वस्तु कुछ भी नहीं मिलता कोई प्रोटीन पदार्थ नहीं है कंदन और फल या तो नीचे खोद करके कुछ खाएंगे या ऊपर के फल जैसा मिले उसे खाएंगे उसे अपने काल आयु क्षेपण कर रहे हैं वो भी अपने आयु पूरी कर रहे हैं पहले नहीं जा रहे इसलिए संतोष एव पुरुष से परम निधानम परम खजाना ये मनुष्यों का क्या है संतोष है ये तीनों व्यक्ति में संतोष के ही जीवन देखा है सर्प में जंगली हाथी में और जो जंगल में रहने वाले तपस्वी लोगों में प्रोटीन पदार्थ कुछ नहीं उनके पास किंतु बलवान है अपने आयु पूरी कर रहे हैं संतोष में पुरुष से परम निधान <clears throat> ननो अमूर्ता नामती वायु चंद्र क्रीड़ादि नाम जो अमूर्त पदार्थ है ठोस नहीं है घनीभूत नहीं है कठिन नहीं है ये वायु कठिन नहीं होता वो भी आहार है अन्न है स्नरपटा और चंद्र का किरण भी आहार है चंद्रमा के जो किरण है वो भी चकोर पक्षी का आहार है चकोर पक्षी वही सूखता है रात्रि बाकी वो दूसरे वस्तु नहीं खाएगा दूसरा आहार नहीं होता उसका चंद्र किरण को ही सूखना है उसने रात्रि में चांदनी रात में चंद्र ग्रहण को चुनना है तो सर्पादिन प्रति अन्नत्व अस्थि वायु भी अन्न है सर्प के प्रति है और चंद्र किरण भी अन्न होता है चकोर पक्षी के लिए अन्न होता है किंतु वो कठोर नहीं है तो इसलिए प्रश्न आया तो उसके संग्रह करने के लिए कहा शरीर धारण समर्थन का धारण समर्थन बोला जो शरीर धारण के समर्थ जिसके शरीर जिससे रक्षित हो उसके लिए अन्न है ये कहा शरीर धारण समर्थन जिसके शरीर जिससे रक्षित होता हो पलता हो वो उसके लिए अन्न है चाहे ठोस हो चाहे तरल हो इसके तात्पर्य नहीं है चौरासी लाख योनियों का अन्न देखना है यहाँ एक मनुष्य के अन्न नहीं है जिसके द्वारा जो खाया जाए जिससे जिसका शरीर चलता हो वो उसका अन्न है कहा धारण समर्थन कहा आगे कहते हैं शरीर धारण समर्थन धारण समर्थन मानी किसका धारण शरीर का धारण करने के जो समर्थ वस्तु होगा चौरासी लाख योनि में जो जो शरीर बने हैं उस शरीर के धारण के लिए जो वस्तु समर्थ होंगे वो उसका अन्न है ऐसा सृष्टि हो गई कहा अगर चराचर शब्द है अन्न दो प्रकार के अन्न बताए चराचर लक्षण चर अन्न और अचर अन्न एक चलने वाला अन्न है एक न चलने वाला अन्न दो प्रकार का अन्न है चौरासी लाख योनि में क्या है तो कहा चरम मूषक आदि चूहा आदि भी अन्न है दिल्ली आदि का तो चर चर अन्न है चलने वाले हैं और एक होता है अचर अन्न धान जो आदि ये चलने वाले नहीं है अचल है दो प्रकार के अन्न है कहा या वही सहमूर्ति अजायता अन्नम वही तो पूर्व संबंध है जो मूर्ति पैदा हो गई थी वो वस्तु पैदा हो गया वही अन्न है ऐसा संबंध करने का तत्शब्दवाद था मूर्ति रूपम एक अजायता ये कहा तब मूर्ति रूपम कहा तत् क्या है मूर्ति रूप मूर्ति रूप भी पैदा हुआ ये माना आगे कहते हैं मंत्र है आगे तदे तदे तदेन सृष्टम परांग अत्यजिगांग सत्य तदवाचा अजिगृक्षत तन्ना शक्नोद वाचा ग्रहीतुम यद्घनद अग्रहीष्यत अविव्याहृत्य हैवान्नम तदेन सृष्टम परान अत्यजिगांसत तदवाचा अजिघ्रिक्षत तन्ना शक्नोद्वाचा ग्रहीतुम स यद्धि नदवाचा अग्रहीष्यत अव्याहृत इवान्नम अत्रपत तदे तद एनत सृष्टम अन्नम एनत अन्नम वे जो सृष्ट किया अन्न परमात्मा ने सृष्ट किया जो अन्न है या अन्न परांग अत्य जिघांसत जब भोक्ता को देखा उसने अन्न ने तो उसके मुख मोड़ करके भागने की इच्छा की उसने अन्न ने मुझे खाएगा कोई भी व्यक्ति अपने पत्ता को देखने पर डरता है मुझे खाएगा अन्न डरा हुआ है तद तद एना श्रेष्ठम मान उस परमात्मा के द्वारा जो श्रेष्ठ अन्न है जिस अन्न को तैयार किया परमात्मा ने चौरासी लाख योनियों के अन्न बनाया है वो अन्न परांग अत्यजिगांसत परांग अति अधिकांशत ऐसा है अन धातु दो अर्थ में होता है अनहिंसा गत्यो हिंसा अर्थ में गरिया फन धातु से सन करके लंग लकार को प्रयोग जिदांशक बनाया है अजिदांशक सन करके बनाया तो सन करने पर क्या हो गया फन धातु यह गति अर्थ में है भागना चाह यह अर्थ है या हिंसा अर्थ में नहीं है गति अर्थ में है तो तब तब एनत सृष्टम उस परमात्मा के द्वारा जो सृष्ट बनाया गया जो अन्न है वह अन्न परान अत्य जिगांसत का परान अतित्य जिगांसत गंतुम ऐच्छत जाना चाह भागना चाहो अन्न उस भोक्ता को देख करके मुझे खाएगा कैसे बिल्ली को देख करके चूहा भागता है भागना चाह अन्न ने भागना चाह किंतु तद बाचा वो विराट पुरुष ने क्या किया और के द्वारा उसको पकड़ने की कोशिश की हो अन्न को अन्न भागना चाह भोक्ता को देख करके तब वाणी के द्वारा तद वाचा अतिरिक्षत ग्रहितुम ऐक्षत जिग्रिक्षत ग्रह धातु है ये ग्रहण करना चाह वाणी से बाल इंद्रिय के द्वारा पकड़ना चाह उस अन्न को तो तन ना शब्द वाचा ग्रहितुम तद अन्नम न अशब्द बाचा वाणी के द्वारा पकड़ नहीं सका अन्न बोल करके अन्न पकड़ा नहीं जा रहा स यद दैनद अग्रहिष्यत यदि स माने वो जो तो विराट पुरुष प्रथम उत्पन्न पुरुष वो यदि वाणी के द्वारा अन्न को पकड़ लेता वो पुरुष तो अभिव्याकृत एवं अन्नम अतृप्स आज भी वाणी से बोलकर ही अन्न की तृप्ति हो जाती है अन्नार्जन करने की आवश्यकता नहीं थी बोलने से ही हो जाता अन्न बोल दिया तृप्त हो गया ऐसा होता किंतु वो वाणी से ग्रहण नहीं कर सका इसलिए आज भी नहीं होता बोलने मात्र से पेट नहीं भरता तृप्ति नहीं होती अगर वाणी के द्वारा पकड़ा होता उस काल में पकड़ सका होता तो आज भी बोलने मात्र से तृप्ति हो जाती अन्न हो जाता तो नहीं कर सकता माने अन्न किससे पकड़ा जाता है विचार करना है या बहुत सारे वस्तु हैं अन्न पकड़ने वाला कौन है अपान वायु को प्राधान्य देंगे जब हम श्वास को भीतर की तरफ करते हैं उसी काल में ग्रास भीतर जाता है श्वास बाहर लाते समय ग्रास भीतर नहीं जाएगा प्राण काल में नहीं होगा अपान काल में होता है अपान होता अन्न ग्रहण करने वाला बागी नहीं कर पाएंगे ये बोलना चाह रहे हैं बाकी सारे इंद्रिय फेल हो जाएंगे देख करके भी नहीं होता आंख से नहीं पकड़ा जाता अन्न को नहीं तो देख करके तृप्ति हो जानी चाहिए सुन करके भी नहीं होता ये सब बताना चाहते रहे तो ये कहा तद एनत सृष्टम परमात्मा के द्वारा जो सृष्ट अन्न है चौरासी लाख योनियों के लिए भोग्य जो सृष्ट अन्न है वह पराम अत्य जिगांसा मुख मोड़ करके भागने की इच्छा की अन्न ने मुझे खाएगा करके जिगास तद बाचा अजिक्षत उस अन्न को वाणी के द्वारा पकड़ने की कोशिश की बाघेंद्र के द्वारा पकड़ने की कोशिश की वो विराट पुरुष ने आदि पुरुष ने तन न असकनोद बाचा ग्रहितुम तद अन्नम न असकनोद बाचा ग्रह वाणी से पकड़ नहीं सका विराट पुरुष स माने वो विराट पुरुष यद माने यद एनत माने अन्नम एनद अन्नम यदि वो विराट पुरुष बाणी के द्वारा अग्रही से यदि पकड़ लेता बाणी से पकड़ लेता तो क्या होता अभी व्याहृत है अन्नम अत्र आज भी अन्न का नाम लेकर ही तृप्त हो जाता है किंतु नाम लेकर के तृप्त नहीं होता टीका हम कहते हैं शब्दादि भोक्तृत्व इंद्रिय देवता उपाधिगम न स्वतः आत्मा के अभिप्राय तेषाम शब्दादि भोग भोग भोगम उक्वा अन्न अपान इदम इधानीम अन्नपान भोक्तृत्व अपनी अपान वृत्तिमत प्राण उपाधिकम न स्वतः आत्मने अभिप्राय तस् अभोक्तृत्व परिशेषा निर्धारित कहते देखो यहां पर यह अन्न खाना आदि क्यों आत्मा में क्यों भोक्ता बनाया जा रहा है बोलते हैं औपाधिक भोक्तृत्व धर्म स्वतः नहीं है अपान तो प्राण जो है उसके कारण से उसके माध्यम से आत्मा में भोक्तृत्व आता है स्वतः आत्मा में भोक्तृत्व नहीं शब्दादि विषय ग्रहण करता है आत्मा बोलते हैं शब्दादि का भोक्तृत्व आ रहा था आत्मा में वो भी तत्त देवताओं के कारण से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के उपाधि के माध्यम से आया स्वतः आत्मा को शब्दादि विषय का भोक्तृत्व भी नहीं है अभोक्ता है आत्मा ये सिद्ध करना ये प्रकरण का तात्पर्य है आत्मा भोक्ता नहीं ये सिद्ध करना है ये कहा शब्दादि भोक्तृत्व जो शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो भोक्तापन आना भोक्तृत्व आना आत्मा को भोक्ता मानते हैं आत्मा शब्द सुनता है रूप देखता है आदि आया ये जो भोक्तृत्व आता है यह इंद्रिय देवता उपाधिकम इंद्रिय निष्ठ जो देवता है उनके कारण से आया हुआ औपाधिक है भोक्तृत्व आत्मा आदि शून्य का जो आत्मा शब्द सुनता है रूप देखता है रस ग्रहण करता है जो बोला जाता है तब तक इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के निमित्त से आया है स्वतः आत्मा में शब्दादि भोक्तृत्व नहीं है यदि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता न हो इंद्रिया न हो तो आत्मा भोक्ता नहीं हो सकता शब्दादि का ग्रहण नहीं कर सकता वो नैमित्तिक है औपाधिक है वास्तव में आत्मा उपभोक्ता है शब्दादि का ग्रहण नहीं करता और आत्मा में शब्दादि ग्रहण करने का सामर्थ्य हो तो सुसुप्ति में भी शब्दादि ग्रहण करना चाहिए जिस काल में देवता नहीं है सुसुप्त में इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं है ये जागृत स्वप्न में इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता खड़े दिखाई पड़ते हैं तो आत्मा में भोक्तृत्व दिखता है तो उसी निमित्त से है स्वतः आत्मा में भोक्तृत्व नहीं आत्मा अभोक्ता है ये सिद्ध हुआ ये बोलते हैं शब्दादि भोक्तृत्व इंद्रिय देवता उपाधिगम न स्वतः आत्मा में अभिप्रायण इस अभिप्राय से कहा आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व नहीं आता इस अभिप्राय से तेषाम शब्दादि भोगम उपवा इसलिए इंद्रियादि देवताओं को शब्दादि भोग बताया शब्दादि भोग किसको मिलता है इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को ये बताया ये शाम इंद्रियों के देवताओं को कहा अच्छा भोगम उठवा इधानी अन्नपान भोक्तृत्व हाँ आत्मा खाता है पीता है बोलते हैं अन्नपान का भोक्तृत्व ये जो है पातृत्व भोक्तृत्व जो दिख रहा है आत्मा में ये भी औपाधिक है अपान वायु के साथ में एकता होने से तो अपान वायु की क्रिया खाना पीना अपान वायु का काम है आत्मा में आरोप करके बोल रहे हैं आत्मा लोग किंतु आत्मा वास्तव में अन्नपान भोक्तृ भुगता भी नहीं है अन्न भी नहीं खाता पानी भी नहीं पीता सुसुप्ति में आत्मा कभी तो अन्न खाता है क्या जब अपान वायु का संबंध है जागरण स्वप्न में तब आत्मा में भोक्तृत्व दिखता है वास्तव में आत्मा भोगता नहीं ये सिद्ध करना इस वाक्य के द्वारा ये कह रहे अन्नपान भोक्तृत्व अभी अपान वृत्ति मत प्राण उपाधि में अपान वृत्ति वाला प्राण देखो प्राण माने एक है पांच वृत्ति वाला है तो पांच नाम पड़ा है उसका पांच वृत्ति है उसके व्यापार पांच प्रकार का होता है एक वायु अध्यात्म वायु है जिसको सामान्य रूप में प्राण बोल दिया जाता है पांच प्रकार की उसके व्यापार होता है नाभि प्रदेश से जब ऊपर आता है तो उस काल में प्राण बोलता है मान मुख और नासिका के छिद्रों से बाहर निकलता है उस काल में उसको प्राण कहते हैं और फिर भीतर की तरफ जो जाता है प्रश्वास जिसको बोलते हैं उस काल में अपान बोलते हैं बाहर की तरफ आता है प्राण और भीतर की तरफ जाता है तो अपान और प्राण प्राणापान की संधि करके जो काम किया जाता है दोनों को रोका जाता है न श्वास खींचा जाएगा न श्वास छोड़ा जाएगा ऐसा काम होता है जैसे ओजन उठाना हो वजन आदि उठाना हो एक क्विंटल वजन आपको उठाना पड़े पचास किलो वजन उठाना पड़े न श्वास छोड़ते हैं न श्वास खींचते हैं आप दोनों के संधि रोक करके बैठे हुए होते हैं वो नाभि प्रदेश में रोका हुआ होता है प्राण वायु को उसको कहते हैं ध्यान बलवत कर्म करते समय ध्यान नाम पड़ जाता है और खाया पिया हुआ अन्न का जो भीतर में जाठराग्नि द्वारा पच पकता है पकने के बाद में बाष्पीकरण हो रहा जो बाष्पीकरण हो गया तो रस निकल आया उसका यहां से हम खाते हैं तो तीन भाग हो जाता है उसका वहां पेट में जाने के बाद वैश्वानर अग्नि बोलो जाठर अग्नि बोलो उसके तरफ पकता है दोबारा पक करके वहां से सार निकलेगा बाकी मूल जो होगा वो तो बाहर निकल जाएगा गुदा के द्वारा अन्न का तो मध्यम भाग होगा वो रस बन के आएगा उस रस को नाभि के द्वारा समान वायु सारे शरीर में व्याप्त करता है फैलाता है धक्का दे दे करके ब्लड प्रेशर का काम करेगा वो पूरे शरीर पर फैलाता है उसको फैलाते फैलाते वो जो अन्नों का रस था उसको आगे जाके लाल कड़ी का बना देगा खून बनाएगा चलते चलते तो फिर विशेष हो जाएगा मांस जमने लग जाएगा मांस हो जाएगा फिर मेल हो जाएगा चर्बी बन जाएगा फिर आगे जाके अस्थि बनेगा उसी का परिणाम होता जाएगा फिर मज्जा बनेगा फिर आदि हो जाएंगे शरीर ऐसा होता है सप्त धातु ऐसा होता है तो वो समान वायु क्या काम करता है नाभि प्रदेश में रहता है रह करके जो बाष्पीकरण हुआ था जाठराग्नि के द्वारा जो तरल निकला था ऊपर आया था उसको नाभि के द्वारा नाभि केंद्र है पूरे शरीर का नाड़ियों का केंद्र है वहां से पूरे शरीर में उस रस का वितरण करने का काम करता है समारोह नाभि मंडल ऐसा कहा है हृदय प्राण उदय पान समानो नाभि मंडल नाभि मंडल में रहता है और उदान वायु क्या काम करेगा यदि गलत आपने डाला है आपको तो पता नहीं होता तो तुरंत बाहर फेंक देता है उल्टी होती है आपको नहीं पता वो प्राण को काम करना पड़ता है वो अध्यात्म वायु काम करेगा कोई वायु बाहर की तरफ फेंक देगा उदाहरण वायु काम करेगा जीवन भर तो ये काम करता रहेगा और अंतिम समय में सबको लेकर के ऊपर जाने वाला भी उदान वायु होता है उदान वृत्ति से ही प्राण शरीर छोड़ता है व्यक्ति तो ये उदान वायु का काम करता है ये पांच ऐसे होते हैं प्राण अपान ज्ञान उदान समान ते कहना चाहते हैं यहां अच्छा तो क्या इधानी अन्नपान भोक्तृत्व अभी अन्नपान का जो भोक्तृत्व आत्मा भोगता अन्न खाता है पानी पीता है आत्मा ऐसे लोगों में जो बातें चल रही है वास्तव में आत्मा भोगता नहीं आप सुसुप्त में देखना दृष्टांत के लिए उस काल में ना अन्न खाता है ना पानी पीता आत्मा आत्मा को कोई जरूरत नहीं है हाँ, जब ये अपान वृत्ति में वाला प्राण रहेगा अध्यात्म वायु जो अपान वृत्ति चलता है भीतर की तरफ खींचता है उस काल में चाहिए तो यह आत्मा में जो भोक्तृत्व आता है अपान वायु के कारण से आता है ये भी औपाधिक है वास्तव में नहीं जो दूसरे निमित्त से आने वाला धर्म उसका धर्म नहीं होता आत्मा वास्तव में अभोक्ता है ये सिद्ध करना इसके द्वारा भी करते हैं अन्नपान भोक्तृत्वों में भी अपान वृत्तिमत प्राण उपाधि अपान वृत्ति वाला जो वायु है प्राण वो उपाधि के कारण से है उपाधि वाला है ये न स्वतः आत्मा आत्मा में ये भी नहीं भोक्तृत्व शब्दादि ग्रहण का भोक्ता जो आया था वो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के कारण से आया स्वतः नहीं वो भी शब्दादि ग्रहण करना भी और खान पान आदि जो हो रहा है उसका भोक्ता भी आत्मा स्वतः नहीं होता है ये अपान व्यक्ति वाला वायु के निमित्त से होता है आत्मा वास्तव में अभोक्ता है अकर्ता है सिद्ध करना है ये प्रकरण का तात्पर्य यही है लोगों में आत्मा को कर्ता भोक्ता बना रखा है वो गलत है ये सिद्ध करता है आत्मनिधि प्रायण दस्य अभोक्तृत्व परिशेषात निर्धारित परिशेष न्याय होता है जहां जहां प्राप्त होगा उसको निषेध कर देने पर जो शेष बचेगा उसको परिशेष कर देगा प्रसक्त परिचय अन्यत्र प्राप्त हो परिशेष मानव विधि परिशेष परिशेष न्याय होता है जहां जहां प्राप्त है उसको निषेध करने पर जो एक शेष बचेगा कोई परिशेष होता है उसको परिशेष बोलते हैं परिशेष न्याय है ये कहा ये कहना चाहते हैं एक नंबर टिप्पणी छूट गई अग्रहिष्यत मंत्र में था वो टिप्पणी उसको कहना चाहते हैं अग्रहिष्यत थी छांदसी वृद्धि जो माने ये अग्रहिष्यत लिंग लकार का रूप है यदि ग्रहण किया होता तो आज भी हो जाता वो नहीं हो पाया इसलिए आज भी नहीं होता क्योंकि लिंग निमित्त लिंग क्रिया की पत्तो सूत्र है लिंग के निमित्त में लिंग होता है क्रिया न होने फल नहीं मिलने वाला हो या ग्रहण नहीं हुआ आज भी नहीं हो रहा है फल नहीं है हेतु हेतु मनोभाव में लिंग होता है तो उसी में लिंग होता है माने फल की अनिष्पत्ति होने पर उसी को कहना चाहते हैं तो अग्रहिष्यत दृढ़ लकार में नहीं होना चाहिए अग्रहिष्यत होना चाहिए टीका अग्रहित यदि छांदसी वृद्धि ये वृद्धि वैदिक प्रयोग हुआ है छांदस प्रयोग हुआ है लोके तो अग्रहिष्यत इति दीर्घ अग्रहिष्यत होना चाहिए ग्रह धातु है श्या आएगा ईट आएगा पिता अट आएगा अग्रहिष्यत होता है हाँ दीर्घ जरूर होगा ईट को कि ग्रहो अलिटी दीर्घ सूत्र है हाँ ग्रह धातु से परे ईट को दीर्घ होता है लिट न हो तो लिट नहीं है लिंग है ये कहना चाहते हैं ग्रहो अलिटी दीर्घ इति सूत्र दीर्घ हो जाएगा पीठ को दीर्घ हो जाएगा ग्रह अलिटी दीर्घ सूत्र है ठीक है तो अहिकार जो दिखाई पड़ता है अग्रही से छांदस प्रयोग है बता दिया तो भाष्य में कहते हैं तद ये तद अन्नम ये वो जो ये अन्न है परमात्मा के द्वारा सृष्ट अन्न लोकपाला नाम अर्थ अभिमुखी सृष्टम लोकपालों के सामने जो सृष्टि किया था लोकपाल जो देवता है इंद्रियों के अधिष्ठाते देवता उनके लिए अन्न की सृष्टि की जो दो प्रकार के अन्न की सृष्टि की है चर अन्न और अचर अन्न परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ अन्न है तत् यथा मूषक आदि मार्जार आदि गोचरेशम जैसे मूषक आदि अन्न हो बिल्ली आदि सामने होने पर क्या समझेगा वो चूहा बिल्ली को देखने पर मुझे खाएगा ऐसा लगता है तो भागता है भागने की कोशिश करता है तो तद अरे वह अन्नम यथा मूषक आदि जैसे मूषा आदि है चूहा आदि है मारजार आदि गोचरेशम बिल्ली आदि सामने होने पर मम मृत्यु और अन्नाद इति मतवा ये अन्नाद है खा, अन्न खाने वाला है ये और मेरे मृत्यु है मुझे खाएगा ये ऐसा समझ करके पराग अंचती भागता है पीछे की तरफ भागता है पीछे मुड़ करके भागता है चूहा आदि बिल्ली को देखने पर क्या समझ करके मेरा अन्नाद है मुझे खाने वाला है मुझे खाएगा ऐसा समझ करके भागता है उसी प्रकार परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ अन्न भी भोक्ता को देख करके भागने लगा ये कहते हैं तथा उसी प्रकार तद्वत होगा यहां तथा उस प्रकार परामसत मुख बोल करके अन्नों ने जो परमात्मा के द्वारा सृष्टि अन्न है भोक्ता अन्न खाएगा अन्न को मन में आया अब खाएगा ये सोचता है अत्यधिकांशत कहा अतिक्रमण करके भागा भागने की इच्छा की संप्रत्य है इच्छा अर्थ में सन हुआ है भाग नहीं सका भागने की इच्छा की अंत याद आएगा यहाँ सन्नंत बना करके लंग लगा के रूप हाँ, है ऐसा करना ऐसा लगा देना अच्छा। कहा तो भाष्य में कहते हैं आगे माने अत्य जिगांश का था अतिगंतुम ऐच्छत अतिक्रमण करने की इच्छा किया मैंने माने भागने की कोशिश की माने पलायी तुम प्रारंभ थे भागने के लिए आरंभ कर दिया उसने सामने अन्नाद को देख करके खाने वाला व्यक्ति को देख करके भोक्ता को देख करके भागने की कोशिश की तद अन्नाभिप्राय मतवा स्वलोकपाल संघात जो लोकपाल का संघात विराट पुरुष जो आदि पुरुष है विराट पुरुष लोकपाल का संघात विराट पुरुष है सारा लोकपाल जिसके शरीर में है चौदह भुवन जिसके शरीर पर कल्पना होती है पाताल से लेकर के सत्य लोग तक जिसके शरीर में कल्पना होती विराट शरीर में कल्पना है सारे तद अन्नाभिप्राय मत्वा सर्वलोकपाल जो लोकपाल संघात है लोकपालों का संघात है मान विराट पुरुष है उसने क्या काम किया अन्न के अभिप्राय समझा भागना ये सोच करके मान करके कार्यकार संघात लक्षण पिंड वो जो लोकपाल संघात कैसे है शरीर इंद्रिय का पुंज रूप है वो कार्य कारण लक्षण जो संसार में जितने भी कार्यकार भाव होता है उसका समुदाय है वो ऐसा पिंड है वो प्रथम जत्वाद सबसे पहले शरीर उसी का हुआ है प्रथम शरीर है वो फूल शरीर में प्रथम शरीर उसी का है प्रथम जत्वाद पहले पैदा होने से और अन्यास अन्न अन्ना अन्यास अन्न आदान अपश्यम अन्य इंद्रियों को नहीं देखा उसने अन्य किसी इंद्रियों को नहीं देखा अन्न खा सकते हैं करके नहीं सोचा नहीं देखा तो वाणी को देखा उसने शायद अन्न पकड़ लिया अन्न भाग रहा है अन्यास्त माने वाणी से अतिरिक्त को नहीं देखा अन्न पकड़ने की ऐसा सोच कर विराट ने क्या किया अन्न आदान अपशन माने अन्न के आदान करने वाले ग्रहण करने वाले न देख करके अन्य को नहीं देखा वाणी से अतिरिक्त तो नहीं देखा इसलिए तद अन्नम बाचा वाणी के द्वारा पकड़ने की कोशिश की प्रशांत ने वाचा माने बदन व्यापार है ना बोल करके लेना वाणी का काम तो बोलना ही है बोल बोला अन्न को बोल करके लेने की सोचा बदन व्यापार है ना अजीविक सत की इच्छा ग्रहण करने की इच्छा की बोल करके अन्न पकड़ने की इच्छा की ग्रहितों का इच्छा तद अन्नम न सपनोत न समर्थ हो उस अन्न को ग्रहण करना चाहे तो समर्थ नहीं हुआ उस अन्न को पकड़ने में समर्थन नहीं हुआ बोल करके अन्न आया नहीं सामने पकड़ नहीं सका ना सपनों न समर्थ हो भगवत बादशाह बदन क्रिया है कृतुम बाधात्म बदन क्रिया के द्वारा बोलना रूप क्रिया के द्वारा उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ सप्रथम अजा शरीर यद माने यदि यदि वो प्रथम जो शरीर है माने विराट पुरुष यदि ऐसा हाँ माने अन्नम इस अन्न को वाचा अग्रहिष्य यदि बाणी से ही उसको पकड़ लिया होता उस काल में पकड़ सका होता विराट पुरुष ने बोल करके अन्न पकड़ा गया होता उस काल में उस स्थिति में क्या होता गृहित अच्छा सर्वोपी लोग सारा लोग आज तत्कार्य भूतत्व विराट का कार्य है सारा संसार आज होने से क्या होगा अन्नम अभिव्याहृत एवं अन्नम अदृश्य अन्नम के अभिजाहित्य माने उच्चारण करके अन्न शब्द का उच्चारण करके अन्न अन्न बोल करके ये अत्र तृप्त हो जाता अगर उस काल बाणी से पकड़ा गया होता तो आगे बोल करके व्यक्ति तृप्त हो जाते किंतु तो रच हितदस्ती तो तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं आज बोल करके अन्न की तृप्ति नहीं होती है इस प्रकार उसने भी नहीं उसने ग्रहण नहीं कर सका उस काल में यदि बाघेंद्र के द्वारा पकड़ा होता आयु बोलने से तृप्त हो जाता नहीं पकड़ा सका न तो एक अतो ना सकलोल बाचा तो विधि अवगछाम इसलिए आज जब अन्न में पकड़ा जा रहा है बोल करके तो यही होता है उसने भी पकड़ नहीं सका यही हम जानते हैं कहा ना सकलोल बाचा ग्रहित पूर्व जो भी पूर्व जो विराट है उसने भी पकड़ नहीं सका यही जाना जाता है समान उत्तरण इत्यादि बोल दिया टीका से देखते हैं तद एनत जो एनत होता है नपुंसक लिंग में नपुंसक के एनत वक्तव्य है द्वितीय टौशीन सूत्र एन आदेश होता है ऐसा होता है जो आदेश के विषय में इदम शब्द और एतत शब्द को एन आदेश होता है द्वितीय कौशन एन अदंत होता है किंतु नपुंसक में एनत होता है ये अन्न शब्द नपुंसक है इसे एनत शब्द का प्रयोग एनत नपुंसक एनत वक्तव्य नपुंसक में एनत आदेश होता है जब पहले जिस व्यक्ति के विषय में बोला था दोबारा उसी को कहना हो अन्य कार्य को लेकर के तो वहां उसको कहते हैं अनुवादेश बोलते हैं अनुवादेश के विषय में द्वितीय टौशेन सूत्र से एन होता है जैसे अनैन व्याकरण अधिकम एवं छंदो अध्यापक जिसने व्याकरण पढ़ लिया है फिर इसी व्यक्ति को दिखाते एवं छंदो अध्यापक इसको आप आप पढ़ाएंगे पहले इदम शब्द से न बोला था अब एन बोल दिया तो उसी प्रकार यहां अन्न को दोबारा बोलते समय एनत आदेश हुआ है ये एनत वक्तव्य ऐसे बाहर भी है जो अन्न आदेश के विषय में नपुंसक में एनत आदेश होता है ये न होकर के एनत होता है कोई एनत एनत बोल नहीं सीखा है मैं कहा तद एरत इत्यादि सृष्टम तत् परामसत अति अत्य इतना जो परमात्मा के द्वारा सृष्ट होकर के तत् माने अन्न परमात्मा के द्वारा सृष्ट हुआ जो अन्न है वो अन्न परांशत अत्यधिक मुख मोड़ करके अत्यधिकांशत माने मुख मोड़ करके अतिक्रमण करके भागने की इच्छा थी अन्न अन्ना को देख करके सभी अपने मृत्यु से डरते हैं तो अन्न डरा ये मुझे खाएगा करके भागने की कोशिश की कहा इच्छा की परांग पदम विपादे परांग पद क्या है व्युत्पन्न करते हैं पराग अंजति जो पीछे की तरफ जाता है उसको पराग परांग बोलते हैं कि ये पराग अंजति भाष्य में कहा परांग अंजति की पराग ऐसा उक्तार्थ दृष्टांत अन्न भागा विराट को देख करके तो इस विषय में एक दृष्टांत बताते हैं क्या दृष्टांत यथा कहा यथा मूषकादि मार्जारादि गोचरे सन मम मृत्यु अनादित अंजति का जैसे चूहा आदि बिल्ली आदि को देखने पर मेरा ये खा, मुझे खाने वाला ऐसा समझ करके भागने की कोशिश करता है ठीक इस प्रकार जो तो आदि काल में जब सृष्टि की अन्न की सृष्टि की तो विराट को देख करके अन्न भागने की कोशिश की जैसे आज चूहा बिल्ली को देख करके भागने की कोशिश करता है क्यों मैं इसका अन्न हूं मुझे खाएगा करके भाग भागने की कोशिश करता है उसी प्रकार अन्न भागने की इच्छा नहीं ये कहा दृष्टांत मत्वा इति अनंतरम परांग अंजति तद्वती या तद अन्नाभिप्राय मत्वा है ना इसके आगे ये लगा देना कहा मत्वा यदि अनंतर मत्वा के आगे परांग अंशति तद ऐसा मान करके भागता है चुहा ठीक इसी प्रकार यहां ये मत्वा मृत्यु और अन्नाद यदि मत्वा ये जो मत्वा के आगे क्या करना है परांग अंशति चुहा आदि भागने की कोशिश करता है तद्वत मैंने उसी प्रकार यहां भी समझना ये कहा अतिगंतुम ऐच्छत कहा आगे परामसत अत्रिन अतिथ्य अजिज्ञांसत हाँ, तुम ऐच्छत उसका अर्थ करते हैं यद्यपि ब्रियादि अचेतना अचेतन अन्न से नैवम इच्छा समझ यद्यपि धान जो आदि जो होते हैं अचेतन अन्न है उनकी तो भागने की इच्छा नहीं होगी यद्यपि वो भी अन्न है तो यद्यपि बृहदि अचेतन अन्न से जो धान जो आदि जो होते हैं अचेतन अन्न इनका दैवम इच्छा समझे उनकी इस प्रकार की भागने की इच्छा नहीं होती है मुझे खाएगा करके उनको पता ही नहीं है भागने की इच्छा नहीं होती है तथापि भोक्तृ शरीरांतर न प्रविष्टम किंतु बहिरे बसिता फिर भी अर्थ यह है वह अन्न भोक्ता के शरीर में प्रविष्ट नहीं हुआ यह अर्थ है बाहर ही बैठा था परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ अन्न भोक्ता के पेट में नहीं गया बाहर ही बैठा बैठा रहा ये अर्थ है इसका बहिरे तात्पर्य यही बाहरी बाहर ही रहा भागना हमारे बिरियादि धान जो आदि कहां भागेंगे क्योंकि भोक्ता के पेट में नहीं गया भीतर ही पड़ा रहा बैठा रहा यह अर्थ है उसका कार्यकारण लक्षण पिंड तथा अन्नबाचा से जाना यदि उस काल में जो कार्यकारण पिंड है शरीर इंद्र का पुंज है सारे संसार का पुंज है वो विराट शरीर यदि वाणी से ग्रहण कर लेता उस काल में कर सकता तो आज भी वाणी से बोलकर ही आज तृप्त हो जाना था किंतु उसने वाणी से पकड़ नहीं पाया अन्न को इसलिए आज भी केवल वाणी बोल करके अन्न की तृप्ति नहीं होती है एक अर्थ निकाला आगे तो ननो इदानी में वह प्रथम एवं अपान अन्नम अज्रिक्षा तस्य किम न आशेत इति आशंका एक शंका है कि महाराज ननो इदानी में जैसे इस काल में अपान वायु के द्वारा अन्न भीतर किया जाता है जब अन्न खाने का प्रसंग आएगा तो ग्रास लेकर के मुंह में डाला कोई भी खाएगा श्वास भीतर जाते समय में वो खाया हुआ वस्तु तो भीतर जाता है उसी उसी को भीतर जाते समय अपान वायु बोलते हैं एक ही वायु है भीतर अध्यात्म वायु दो वायु है एक तो अधिदैव वायु है देवता वायु है एक अधिभूत वायु है जो ऑक्सीजन का काम दे रहा है सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन दे रहा हवा यह अधिभूत वायु है और एक एक आहुति लेने वाला वायु जो है देवता वायु अधिदैव वायु है और ये प्राण रूप में जो भीतर बैठा हुआ है अध्यात्म वायु है हर वस्तु तीन प्रकार के होते हैं अध्यात्म अधिभूत अधिदैव या अध्यात्म वायु है वायु एक ही है भीतर किंतु उसको पांच प्रकार की वृत्ति है व्यापार पांच प्रकार का इसलिए पांच नाम व्यापार के नाम से उसका नाम मिला हुआ है प्राण अपान ध्यान समान बोला है तो एक ही वायु है भीतर पांच वायु नहीं अलग अलग काम करता है एक ही व्यक्ति जब पूजा करेगा तो पुजारी बोल देते हैं भंडार में जाएगा तो भंडार ही बोलते हैं व्यक्ति एक ही होगा वो उसके अलग अलग व्यापार के कारण से भिन्न भिन्न नाम मिला हुआ है ठीक इसी प्रकार यहां भी वायु एक है वो पांच तरह से काम करता है इसलिए पांच नाम मिला हुआ है पांच वायु नहीं है बेटा वायु एक तो ये शंका उठती है नानू ईरानी में जैसे इस काल में अपान वायु के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं अन्न का तो श्वास भीतर जाता है वो अपान है अपान कहते हैं उस काल में तो अन्न जाता है भीतर तो इधानी में प्रथम एवं अपान अन्न जिग्रीक्षा तस्य किम इतना आशित उस विराट को पहले अपान के द्वारा अन्न ग्रहण करने की इच्छा क्यों नहीं हुई जैसे हम लोग अभी अपान के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं तो विराट को सब वाणी को क्यों लिया उसने शुरू में वाणी से पकड़ने की कोशिश क्यों किया अन्न को पहले अपान वायु से ग्रहण कर लेता जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी ये शंका है नानू इधानी में जैसे इस काल में अपान वायु के द्वारा अन्न का ग्रहण होता है प्रथम में अपान नहीं अन्न जिगृषा तस् किम इति नाशित उस तस्य मान विराट विराज उस विराट को पहले अपान वायु के द्वारा अन्न ग्रहण करने की इच्छा क्यों नहीं पैदा हुई वो बाणी से पकड़ने की कोशिश क्यों किया पहले ये शंका आगे तो कहा कहते हैं तस्य इधानंतर शरीरापेक्षया प्रथम जत्वा उसको पता ही नहीं कहां से ग्रहण करना है ये तो कई शरीर बन चुके हैं इसलिए अपान वायु से अन्न ग्रहण होता है मालूम हो रहा है वो प्रथम शरीर है पहला पहला उत्पन्न हुआ है तो अन्न किससे लिया जाए तो मालूम नहीं ठीक है तस्य ईरानंदर तस्य मान विराज है उस विराट का ईरानंदन शरीर अपेक्षा इस, समय के शरीर की अपेक्षा करके वो जो पहला वाला शरीर है प्रथम सबसे पहला उत्पन्न हुआ है वो इसलिए तदानी अपान अन्न अन्नादत्व से अनिश्चयात अपान वायु अन्नाद होता है निश्चय नहीं हुआ है अन्न खाने वाला अपान वायु होता है उस काल में निश्चय नहीं हुआ है जो पहला पहला पहला हुआ पिंड है वो और किसके द्वारा अन्न ग्रहण होना उसको मालूम नहीं निश्चय नहीं हुआ तस्य बाघादिना अन्न अनुदिग्र से होता है इसलिए उस विराट को बाघादि के माध्यम से अन्न ग्रहण करने की इच्छा सही हो जाता है युक्त है क्योंकि उस काल में पता है कि शुरू की बात है वो इसे कहा प्रथम जत्वाद प्रथम जत्वाद अन्यास्त अन्न अन्न आदान अपश्यन कहा अन्न ग्रहण करने वाला अन्न नहीं देखा उसने एक ही को देखा वाणी को देखा एक ग्रहण करेगी करके पकड़ने की कोशिश की कि पकड़ नहीं सका अस्मदादि अपेक्षा इतना प्रथम किसकी अपेक्षा प्रथम हिरण्य गर्भ की अपेक्षा नहीं हमारी अपेक्षा प्रथम है वो पहला उत्पत्ति हिरण्य गर्भ के अपेक्षा बाद में है वो प्रथम अजय वाली किसकी ये सब पहला माने अपेक्षित शब्द है किसके पहला हम लोगों से पहला है वो हिरण्य गर्भ के तो बाद का है वो देखा प्रथम अजत्वात माने अस्मदादी अपेक्षा है हमारी अपेक्षा से हम लोगों की अपेक्षा से प्रथम जा है वो यस्मिन प्रतिष्ठा अन्नम अदाम उपक्रांत जो कहा था इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं ने कहा था आयत अन्न प्रजानी ही हमारे लिए शरीर की व्यवस्था कीजिए आप यशमिन प्रतिष्ठा अन्न मराम जिसमें बैठ करके हम खा सकें अन्न भक्षण कर सकें देवताओं की प्रार्थना थी यशमिन प्रतिष्ठा अन्न मदाम यदि उपक्रांत से आरंभ किया था व्यष्टि शरीर से व्यष्टि शरीर की मांग की थी उन्होंने देवताओं ने इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं ने व्यष्टि शरीर मांग की समष्टि अपेक्षा प्रथम तो व्यष्टि शरीर जो होता है समष्टि पिंड की अपेक्षा प्रथमजत्व तो नहीं होता पहले पैदा नहीं हुआ है ये सिद्ध हो जाता है ये अपश्यन अजाम नहीं करता अन्य को नहीं देखा उसने उस काल में वाणी को ही समझा ये पकड़ सकते करके दिया तो, तो फेल हो गया ये कहते हैं बदन क्रिया या प्रथमजस्य पिंडस्य कारण से अन्न ग्रहण असामर्थ्यम कार्यगत असामर्थ्यम कहते हैं बदन क्रिया के द्वारा वाणी रूपी क्रिया के माध्यम से बोलना रूप क्रिया के द्वारा प्रथम अजस्य पिंड से जो प्रथम पैदा हुआ पिंड था विराट उसका कारणस्य जो कारण शरीर है उसका अन्न ग्रहण असामर्थ्य वो अन्न ग्रहण में असमर्थता दिखाते हैं किसका कार्य का तो असमर्थन जो कार्य में अभी वर्तमान शरीर में वाणी से बोल करके अन्न पकड़ा नहीं जाता इस कारण से वो भी नहीं हुआ यह अनुमान से सिद्ध होता है सप्रथम अजय इत्यादि राष्ट्र में कहा था सप्रथम जो शरीर यद मानी यदि हाँ बाचा अग्रेषत के द्वारा यदि ग्रहण कर लेता उस काल में तो गृहवान शायद सर्वोपि लोग तत्कार्य भूत सारा संसार उसका कार्य है इसलिए अन्नम अव्याहृत है अन्नम अप्रसत माने अन्न के उच्चारण नाम का उच्चारण करके तृप्त हो जाते अगर उस काल में बाणी से पकड़ा होता तो किंतु तो ऐसा नहीं है उस बाणी से पकड़ नहीं सका इसलिए अभी भी बाणी से बोलने मात्र से तृप्ति नहीं होती है ठीक है अत्र प्रथम अन्न पदम गृहितवान चार इत्यत्र कर्मत्व समझ या दो बार अन्न शब्द है इस वाक्य में पहला वाला अन्न तो द्वितीयांत है अन्न को पकड़ने की कुछ पकड़ा वो अन्न को पकड़ा होता है यदि उस काल में ऐसा अच्छा तब अनंतर भूतत्व तत्कारी भूतत्व विराट के बाद में हुआ है हमारे शरीर बेष्टि शरीर अभी इधानीतन शरीर से पूर्वकालीन बेष्टि शरीर कार्य तो अभाव इदानंतर शरीर जो है ना पूर्वकालीन जो वृष्टि शरीर का कार्य तो नहीं है वो तो समष्टि का कार्य है अव्यवाहित माने उच्चारण करके ही तृप्त हो जाता आज भी अगर उस काल में वाणी बोल करके शब्द को अन्न को खींचा गया होता तो आज भी शब्द बोल करके तृप्त हो जाना था नहीं होता वाचक शब्द है ना अभिधाया माने अन्न का जो वाचक शब्द होगा उस अन्न का जो वाचक शब्द होगा उसके कथन मात्र से तृप्त हो जाना था अगर उस काल में वाणी से पकड़ा होता तो पूर्वज्योति इत्यस्य ना समन्वय यदि पूर्व शब्द पूर्वज होने पर भी वो ग्रहण नहीं कर सका उसके साथ संबंध करता पूर्वजों की ना सपनोत वाचा ग्रह तो जो पूर्वज है सबसे पहला उत्पन्न वो विराट है वो वाणी से अन्न को पकड़ नहीं सका अगर वो पकड़ पकड़ सका होता तो आज शब्द बोलने से तृप्त हो जाना था आज नहीं हो रहा है सिद्ध हो गया कहा समय हो गया यह ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता नमो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आदिरावीर्मयेभि वेदस्य महास्तः कृतन्नेवाप्रभाशीर्णेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि हितम् वदिष्यामि सत्यम् वदिष्यामि तन्मामवतु परम्परा Amen. Uh,